सीनियर इंस्पेक्टर अशोकन का मानना था कि जो क्रू मेंबर बोट लेकर भागा था वो ही इस मर्डर केस का कातिल है ऐसे में अशोकन इस वक्त उसी क्रू मेंबर की तलाश में लगा हुआ था उसे लोकल पुलिस की मदद से उस क्रू मेंबर को ढूंढना शुरू कर दिया अशोकन को ऐसा लग रहा था कि अगर वो इस आदमी को ढूंढ लेगा तो फिर केस और ज्यादा क्लियर हो सकता है उधर बाकी के बचे दोनों सर्वाइवर को भी इस शिप पर लाकर रख दिया गया था विक्रांत ने सबसे पहले उन लोगों को इंटरोगेट करना शुरू किया हालांकि अभी इन लोगों ने समंता और कुक को इंटरोगेट करने का प्लान बनाया ही था कि उन लोगों को केस से रिलेटेड और भी इंटरेस्टिंग चीजें पता चली अभी फॉरेंसिक कैमरामैन के मुंह में से यूएसबी ड्राइव मिलने के बाद अब फॉरेंसिक टीम की तरफ से ये नई इन्फॉर्मेशन दी गई थी विक्टिम के गले में किसी केमिकल के मोलिक्यूल का फॉर्मूला लिखा हुआ था इसके साथ ही स्क्रिप्ट राइटर नौशाद अली के पेट में एक क्रॉस बना हुआ था ये सब क्लू मिलने के बाद अब केस विक्रांत के लिए और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका था शुरू शुरू में ये केस जितना आसान लग रहा था अब ये उतना ही मुश्किल नजर आ रहा था विक्टिम की डेड बॉडी पर मर्डरर ने जो सिंबल छोड़ा था वो इस वक्त इन लोगों के लिए टॉप प्रायोरिटी बना हुआ था क्रॉस का सिंबल ऑयल पेंटिंग वाले ब्रश से बनाया गया था हर्षित ने लैपटॉप को स्क्रीन पर नजर आ रहे विक्टिम की फोटो को देखते हुए कहा फिर उसने आगे बताते हुए कहा विक्टिम की बॉडी पर जो ऑयल पेंट लगा हुआ था वो उसके कपड़े पर भी लगा हुआ है मतलब अगर विक्टिम की डेड बॉडी में ऑयल पेंट पहले से लगा होता तो फिर उसके कपड़े पर यह पेंट नहीं लगता इसका मतलब ये है कि विक्टिम को मारने के बाद उसकी बॉडी में ये निशान बनाया गया है लेकिन ये कितना अजीब है है ना अनुष्का ने अपनी भौएं टेढ़ी करते हुए कहा सिफ्यूरो एक्सिम फिर क्रॉस आकर मर्डर ऐसा क्यों कर रहा था वो क्या क्लू देने की कोशिश कर रहा है ये कातिल पहले ही उन लोगों को मार चुका था ऐसे में अगर ये सब निशान वाकई में कातिल द्वारा विक्टिम की डेड बॉडी पर बनाया गया था तो विक्रांत ने कंप्यूटर की स्क्रीन पर क्रॉस वाले निशान को बड़े ध्यान से देखते हुए कहा इसका मतलब है कि कातिल जरूर कुछ न कुछ बताने की कोशिश कर रहा था हाँ लेकिन क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा था अनुष्का ने सवाल किया सिफ्यूरो एक्सिन सिर्फ एक सफ्लोस्फोरिन एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग है इसका इस्तेमाल काफी लोगों द्वारा किया जाता है आखिर कातिल इस नाम का क्लू देकर क्या कहने की कोशिश कर रहा था हम्म, हर्षित ने सबका ध्यान अपने लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ खींचते हुए कहा यह फॉर्मूला मेकअप आर्टिस्ट के गर्दन पर लिखा हुआ था उसका नाम ललिता था ना हम्म एक काम करता हूँ मैं पहले मैं थोड़ा पता करने की कोशिश करता हूँ कि कहीं इस केमिकल का मेकअप इंडस्ट्री में तो कोई कनेक्शन नहीं है इतना कहते हुए हर्षित ने अपने कीबोर्ड पर टाइप करना शुरू कर दिया तभी अचानक से विक्रांत के दिमाग में कुछ आया उसने पीछे मुड़कर वहां पर मौजूद एक लोकल ब्रांच के पुलिस वाले से कहा आप ये दोनों फोटो लेकर जाइए और जो दोनों विक्टिम हैं उनको फोटो दिखाकर पता लगाइए कि उन्हें इस केमिकल और क्रॉस के बारे में कुछ पता है या नहीं ओके तुरंत ही वो पुलिस वाला फोटो लेकर वहां से निकल गया तभी वहां पर एक दूसरा पुलिस वाला पहुंच गया उसने विक्रांत की तरफ देखते हुए कहा सर चैंपियन पिक्चर के प्रेसिडेंट और डायरेक्टर्स यहाँ आ चुके हैं आप उनसे मिलेंगे नहीं अभी नहीं विक्रांत ने तुरंत जवाब दिया और फिर उसने अनुष्का की तरफ देखते हुए कहा पहले तुम जाओ और उन्हें पिक करो और उनके क्रू मेंबर की डिटेल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मुझे इन्फॉर्म करो ठीक है अनुष्का ने जवाब दिया और फिर तुरंत वो पुलिस वाले के साथ चल पड़ी विक्रांत ने देखा कि उसके ऑफिस में अभी तक व्हाइट बोर्ड नहीं लगा था और बिना व्हाइट बोर्ड के विक्रांत काम ही नहीं कर पाता था ऐसे में उसने तुरंत ही एक लोकल पुलिस वाले को बुलाकर ऑफिस में व्हाइट बोर्ड लगाने का ऑर्डर दे दिया विक्रांत के ऑर्डर देने के बाद तुरंत ही वो पुलिस वाला भागता हुआ गया और व्हाइट बोर्ड लेकर आया व्हाइट बोर्ड के साथ वो कुछ पेपर और मार्कर वगैरह भी लेकर आया हुआ था जिसकी मदद से वो केस पर और ध्यान देते हुए अच्छे से काम कर सके इसके बाद किसी ने विक्रांत को वर्कला आइलैंड का मैप भी भेजा था इसके साथ ही विक्रांत के पास अब तक क्राइम सीन के सभी फोटोग्राफ यूएसबी की रिकॉर्डिंग और उसकी फोटो और उस केमिकल का फार्मूला आदि सब कुछ डिटेल इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचा दी गई थी इसके बारे में काफी देर तक सोचते रहने के बाद विक्रांत को केस बड़ा अजीब सा लगने लगा ये मर्डर केस बाकी के दूसरे मर्डर केस से बिल्कुल अलग था विक्रांत ने भी अब तक जितने मर्डर केस सॉल्व किए हैं उन सबसे अलग केस है ये विक्रांत को सबसे अजीब बात यह लग रही थी कि आखिर कोई कातिल इतने सारे क्लू कैसे दे सकता है कोई कातिल आखिर इतना निडर कैसे हो सकता है वो कत्ल करने के बाद इतने सारे क्लू कैसे छोड़ सकता है आखिर कौन हो सकता है ये कातिल क्यों मार रहा है ये अचानक से हर्षित ने आकर विक्रांत को बताया मुझे शिफिर एक्सिम से रिलेटेड कुछ नहीं मिल रहा है लेकिन वो जो क्रॉस था उससे रिलेटेड शायद कुछ मिला है ओ सुनकर विक्रांत बड़ी उत्सुकता के साथ हर्षित की तरफ देखने लगा